प्रेमी के प्रति प्रेम करता है जो हमसे प्रेम करेगा उसके प्रति प्रेम करेगा ये बड़े काम की चीज है तो अभिमान करोगे तो प्रेम नहीं होगा प्रेम का स्वभाव जैसे गंगा जी का स्वभाव है ना पहाड़ पर से नीचे उतरने का वैसे प्रेम का स्वभाव है नीचे की ओर बहने का तो जिसमें विनय होगा उससे तो प्रेम होगा और जो अपना बड़प्पन दिखावेगा उसके प्रति प्रेम का उदय नहीं होगा तो प्रेम का उद्दीपन है प्रेम तो एक कथा है महाभारत की बहुत छोटी सी अग्नि देवता को अजीर्ण हो गया जब अग्नि देवता है ना बहुत ही बुरा लोग खिलाते हैं होम ही होम करते जाते हैं तो अग्नि देवता को अजीर्ण हो गया अपच का रोग हो गया तो वैद्य ने बताया अश्विनी कुमार ने अश्विनी कुमार ने बताया कि जब तुम वानस्पत्य का सेवन करो अग्नि देवता घी बूरा छोड़ के हाँ, एक जंगल को जलाओ तब तुम्हारा अजीर्ण दूर हो जाएगा थोड़ी जड़ी बूटी है फल फूल औषध का सेवन करो घी बूरा छोड़ो तो खांडव वन को जलाने का निश्चय हुआ खांडव वन जलाने के लिए जब अग्नि देवता गए तो वहां बड़े बड़े भयंकर महाराज वो सर्प था और भी प्राणी थे उन्होंने रोका कि हमारे आश्रय वन को तुम कैसे जला सकते हो तो श्री कृष्ण सहायता करने के लिए अर्जुन अग्नि देवता की सहायता करने के लिए वहां पहुंचे श्री कृष्ण सारथी और अर्जुन रथी इंद्र ने कहा कि देखो अर्जुन इसमें हमारा एक मित्र रहता है सर्प उसको बचा देता तो अर्जुन ने उसकी रक्षा की जब रक्षा की अर्जुन ने उदार चित्त अर्जुन अपने पिता की आज्ञा को मानने वाला ये अर्जुन का सद्गुण है वो अर्जुन के पिता हैं इंद्र इंद्रांश है अर्जुन को आज्ञा मान करके <clears throat> इंद्र के मित्र की रक्षा कर दी बड़े प्रसन्न हुए इंद्र देवता जब खांडव दाह हो गया <clears throat> तब इंद्र ने श्री कृष्ण से कहा कि तुमने हमारे मित्र की रक्षा कर दी अर्जुन के द्वारा करा दी उसको वर्ण अब देखो तो श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा तू स्वर्ग का राजा और मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक छत्र सम्राट तू मुझे डर क्या देगा बोले हाँ हाँ महाराज आप देवता हमें मनुष्य आप हमको बर दीजिए क्या बर चाहिए श्री कृष्ण तुम्हें क्या बर चाहिए बोले अर्जुन के साथ जो हमारी मैत्री है ना ये सदा बनी रहे ये कभी टूटे नहीं ये वरदान आपके अच्छा देखो इसमें एक लौकिक बात है यदि किसी के पुत्र से अपनी मैत्री हो और उसके पिता का भी अनुमोदन प्राप्त हो जाए तो उस मैत्री में कोई बाधा नहीं ये भी एक रीति है और श्री कृष्ण ने अर्जुन से मैत्री रखने का वरदान मांगा इसका प्रभाव अर्जुन पर क्या पड़ेगा मैत्री के मूल में विश्वास आवश्यक है वो यदि विश्वास टूट जाए तो मित्र मित्र में प्रेम नहीं रहेगा पति पत्नी में प्रेम नहीं रहेगा माता पुत्र में प्रेम नहीं रहेगा विश्वास ही प्रेम का मूल है और विश्वास से प्रेम पैदा होता है विनयी की ओर चलता है और प्रेम देखकर बढ़ता है ये प्रेम का स्वभाव है अब देखो अर्जुन से कृष्ण का इतना प्रेम है का पूरा विश्वास है श्री कृष्ण जब युद्ध के लिए आम, आमंत्रित करने अर्जुन गए वहां तो दुर्योधन पहले से ही आके बैठा था और श्री कृष्ण सो रहे थे और अर्जुन श्री कृष्ण के सिरहाने की ओर दुर्योधन जी बैठे हुए थे दुर्योधन को युधिष्ठिर भी सुजोधन बोलते थे ये धर्मात्मा की दृष्टि है सुजोधन है दुर्योधन नहीं दुर्योधन आए श्री कृष्ण के सिरहाने बैठ गए मैं राजा हूं राजकुमार हूं राजा एक खाद्य दुर्योधन सिरहाने बैठ गया अब अर्जुन आए अर्जुन आए तो श्री कृष्ण के पांव की ओर नीचे बैठ गए विनय जब श्री कृष्ण की आंख खुली तो देखा अर्जुन पांव की ओर बैठा है झट उठे उसको हृदय से लगाया अर्जुन बराबर ही खाओ पांव अर्जुन पांव नहीं छूते थे कृष्ण का श्री कृष्ण युधिष्ठिर का पांव छूते थे और अर्जुन को हृदय से लगाया पूछे अर्जुन कैसे आए तो अर्जुन बोले कि युद्ध होने वाला है उसमें आपकी सहायता लेने के लिए आया हूं तब तक दुर्योधन अब दुर्योधन बोला क्योंकि उसको प्रणाम तो करना नहीं था तो मैं तो पहले से ही आके तुम्हारे सिराने बैठा हूं बोले ठीक है भाई आए तुम तो पहले परंतु मैंने अर्जुन को पहले देखा तो कुछ तो अर्जुन की सहायता करनी चाहिए कुछ तुम्हारी करनी चाहिए तो उन्होंने दो हिस्से कर दिए एक और बहुत बड़ी सेना देखो भक्ति देखो एक और हाँ, एक अक्षोहिणी नारायणी सेना जदुवंशियों की और एक और श्री कृष्ण अकेले निरायुध हाथ में कोई हथियार नहीं श्री कृष्ण हाँ। तो भाई अर्जुन छोटे हो तुम मान लो पहले दोनों में से तुम्हें क्या चाहिए अब देखो यहां अर्जुन का विनय भी प्रकट हुआ और अर्जुन का विश्वास भी प्रकट हुआ बोले हमको सेना नहीं चाहिए हमको कृष्ण चाहिए सेना हमारी रक्षा नहीं कर सकती श्री कृष्ण हमारी रक्षा कर सकते तो श्री कृष्ण की प्रीति आई अर्जुन पर और अर्जुन की प्रीति गई कृष्ण पर इसी से कई बार श्री कृष्ण ने कहा कि भक्तों से मैं सखा चेते इष्टों से मैं दृढ़मिते तुम मेरे भक्त हो तुम मेरे सखा हो सरल अर्जुन माने सरल होता है संस्कृत में पाणनीय व्याकरण वाले तो कहते हैं अर्जनात अर्जुना जो धनार्जन करे ज्ञानार्जन करे अर्जन से जैसे वैश्य लोग उपार्जन है धन का उपार्जन करते हैं वैसे जो अर्जन करे सो अर्जुन परंतु निरुक्त में बताते हैं कि ऋदुत्वात अर्जुना नीलकंठ ने महाभारत के टीकाकार ने उद्धृत किया ऋदुत्वात अर्जुना बड़े सीधे सादे हैं और विनयी हैं श्री कृष्ण पर विश्वास है और श्री कृष्ण का स्नेह है अर्जुन पर यदि अर्जुन के चित्त में भक्ति न होती तो भगवान उनको गीता का ज्ञान नहीं देते हो गीता में कई बार ये बात कही कि जो मैं बता रहा हूं वो भक्त के लिए है आपके ध्यान में हो तेरहवें अध्याय में जब क्षेत्रज्ञ का प्रकृति पुरुष का वर्णन किया मद भक्त एतद विज्ञा मदभावायोपद्य से मेरा भक्त इसको जानता है और जान करके मेरा स्वरूप हो जाता है मदभक्त एक तद्विज्ञाय मदभावायोपद्य से भक्त वो है जो भगवान को अपने नन्हे से हृदय में बैठा देता है छोटी सी झोपड़ी और उसमें भगवान को बैठा दिया एक भक्त का अंतकरण है और अंतकरण में आके भगवान बैठे अब देखो ज्ञान की बात आपको क्या सुना है जो अंतकरणावच्छिन्न चैतन्य है वही श्री कृष्णाकारावच्छिन्न चैतन्य है जब तक प्रमाता प्रमेय से एक नहीं होता तब तक ज्ञान नहीं होता विषय ज्ञान में भी यही पद्धति है जैसे जब घड़ा आपके मन में आ जाएगा तब आप और घड़ा दोनों का चेतन एक हो जाएगा तभी ज्ञान होता है ऐसे समझ लो कि आप स्वामी जी सामने बैठे हैं इनको मैंने आंख के द्वारा अपने हृदय में लिया अब हमारे हृदय में बैठे हुए जो स्वामी जी हैं उनका कोई जीव चैतन्य अलग है और देखने वाला जो मैं हूं अपने दिल में बैठाने वाला मैं हूं उसका चैतन्य अलग है जो देखने वाले का चेतन है वही दिखने वाले का चेतन है इसलिए जब तक स्थायी भावावच्छिन्न चैतन्य का आलंबन विभावावच्छिन्न चैतन्य से एकता नहीं होगी तब तक रस की अनुभूति नहीं हो सकती ये रस की शास्त्रीय प्रक्रिया है जब हम किसी से एक हो जाते हैं तब उसका मजा हमको मिलता है जिसको दिल से दिल मिलना बोलते हैं वो हमारा दिल और हमारे प्यारे का दिल एक है तो मद भक्त एक विज्ञायो मद भावायो तो कर देते भगवान का भक्त जब ये विज्ञान प्राप्त करता है तब वो भगवत स्वरूप हो जाता है इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम तो देखो अर्जुन का विनय अर्जुन का विश्वास और अर्जुन का वरण उसने एक अक्षमणी नारायणी सेना सबल बलवती सेना का परित्याग किया और अकेले अस्त्र शस्त्र रहित श्री कृष्ण का निहत्थे कृष्ण का वरण किया तो विश्वास है विनय है भक्ति है और वरण भी है जमे वैश्य ऋणुते तेन लभ्य जो भगवान का वरण करता है उसी को भगवान मिलते हैं और भगवान कितने छोटे होते जा रहे हैं कहा निर्गुण निराकार निर्विकार निर्धर्मक निर्विशेष अद्वितीय परमात्मा कहा उतर के आया माया में माया में से उतर के आया विराट स्थूल समष्टि में और वहां उतर के आया एक ब्रह्मांड में ब्रह्मांड में से आया भारतवर्ष में तो बृहत्ता का तो ध्यान बड़प्पन का तो ख्याल छूट गया है देखो आज मजहब में लोग इतने अटक जाते हैं कि सच्चे धर्म को भूल जाते हैं छोटी चीज में अटक गए लोग मजहब ने सच्चे धर्म को तिरस्कृत कर दिया तो जाति ने मानवता से अलग कर दिया भाषा ने ज्ञान का अनादर करा दिया हम इतने भाषानिष्ठ हो गए कि यदि दूसरी भाषा में ज्ञान मिलता हो तो उस भाषा का भी अनादर उस भाषा का अनादर करते हैं उससे मिलने वाले ज्ञान का अनादर करते हैं <clears throat> ज्ञान बड़ी चीज है भाषा छोटी चीज है मानवता बड़ी चीज है जाति छोटी चीज है धर्म बड़ी चीज है मजहब छोटी चीज है और राजनीति पार्टी में भ्रष्ट हो गई पार्टी तो तुच्छ वस्तु है राष्ट्र का जो हित है जो राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता की जो नीति है हाँ, वो कितनी उच्च कोटि की है और ये दलबंदी कितनी छोटी चीज है दलबंदी ने प्रांतीयता ने राष्ट्रीयता को भुला दिया दलबंदी ने राजनीति को भ्रष्ट कर दिया हाँ, और दलबंदी नहीं व्यक्तिवाद हो पार्टी का हित नहीं है अपना हित तो ये जितने जितने हम छोटे होते जाते हैं उतना उतना जो हमारा बड़प्पन है वो छूटता जाता है और भगवान भगवान महाराज देखते हैं कि जहां हमारा भक्त है कुएं में हमारा भक्त गिरा है तो हम कुएं में चलकर उसको अपने हृदय से लगाते हैं कहा आए तो बुआ के लड़के बने बहनोई बने मित्र बने और रथ के सारथी बने अपने भक्त के उद्धार के यदि भगवान समान सत्ता में नहीं आवेंगे जहां हम हैं वहां नहीं आवेंगे तो हम भगवान के पास पहुंचेंगे और हमारा उद्धार होगा भक्ति सिद्धांत में ये बात नहीं मानी जाती हमारे अंदर तो भगवान के पहुंचने की भगवान के पास पहुंचने की शक्ति नहीं है साधना नहीं है और सबसे बड़ा मंगल ये हुआ कि अर्जुन ने श्री कृष्ण को सारथी के रूप में वरण किया सारयती अश्वाम जो हमारे इंद्रियों का स्वामी ऋषिकेश है जो इंद्रियों का संचालक है वही घोड़ों का संचालक है <clears throat> जो हमारी बुद्धि का अंतर्जामी है वही सारथी बनकर बैठा है बुद्धिम तो सारथी मृत्यु वो परिषद स्पष्ट रूप से बोलता है ये सारथी आते हैं अब देखो भक्ति जो है भगवान को दूर से निकट ले आई और अनंत से छोटा सा बना दिया बाप से बेटा बना दिया अपना रिश्तेदार नातेदार बना दिया ये भक्ति है <clears throat> जिसके संकल्प में समग्र विश्व है उसको लाके अपने हृदय में अपने हृदय में बैठा दिया ये भक्ति है भक्ति रेवैनम दर्शयती भक्ति रेवैनम नयति भक्ति ही भगवान के पास पहुंचाती है भगवान को खींच लेती है और भक्ति ही भगवान का दर्शन कराती है अब ऐसे भक्त के प्रति भगवान ज्ञान का उपदेश करते हैं अब भक्ति की बात भी देखो प्रपत्ति है पहले वो शिष्य हम साधुमाम त्वाम प्रपन्नम मैं तुम्हारा शिष्य हूं और तुम्हारी शरण में आया हूं प्रपन्न प्रपन्नों माने पांव पकड़ता हूं प्रपद कहते हैं ये जो हमारा पांव का पंजा होता है ना पांव का पंजा ऊपर नीचे तलवा होता है और ऊपर पंजा होता है उसको प्रपद बोलते हैं संस्कृत में प्रपद पद का प्रकृष्ट पांव का ऊपरी हिस्सा तो प्रपद्य माने पकड़ लेना पांव मैंने अब तुम्हारा पांव पकड़ लिया है श्री कृष्ण तुम हमें ज्ञान का उपदेश करो देखो भक्ति पहले भक्ति पूर्ण हुई श्री कृष्ण के प्रति प्रपत्ति हुई ये प्रपत्ति भी दो तरह की होती है एक एक को बोलते हैं मरकट शरणागति और एक को बोलते हैं मारजार शरणागति बंदर का बच्चा अपनी माँ को दोनों हाथ से पकड़े रखता है वो उछले कूदे इधर जाए उधर जाए कितनी भी चंचलता करे पर बच्चा अपनी माँ को पकड़े रखता है अपनी ओर से पकड़ के रखता है इसका नाम होता है प्रपत्ति और दूसरी होती है मारजार शरणागति उसमें जैसे बिल्ली का बच्चा जो है वो अपने आप को छोड़ देता है और मां अपने मुंह से उसको उठाती है चाहे जहां ले जाकर रख दे जिस दांत से वो चूहे को चबा जाती है वही दांत लगाकर अपने बच्चे को उठाती है और उसको जरा भी चोट नहीं आती है तो जैसे बिल्ली का बच्चा अपनी मां पर अपने को छोड़ देता है वैसे भगवान के प्रति अपने को समर्पित कर देना ये मार्जार शरणागति है और, और जैसे बंदर पकड़े रखता है वैसे भगवान को पकड़ना ये मरकट शरणागति है तो प्रपत्ति जो है वो मरकट शरणागति है अपनी ओर से भगवान को पकड़ना है और मामेकम शरणम ब्रजा जो है अहम त्वा सर्व पापे जो में मासूचा वो मार्जात शरणागति है इसको रामानुज संप्रदाय में दृप्त शरणागति और आर्त शरणागति ऐसे बोलते हैं हम पकड़े हुए हैं ये दृप्त शरणागति है और हम तो पकड़ नहीं सकते भगवान उनको पकड़े हुए हैं ये आर्त शरणागति विश्वास की पराकाष्ठा जिसकी हमें शरण लेनी है वो सर्वज्ञ होना चाहिए शक्तिशाली होना चाहिए और दयालु होना चाहिए तब उसकी शरण ग्रहण की जाती है ये बात आपको सूचना है तो अर्जुन प्रपन्न है भगवान और भगवान क्या है का प्रपन्न पारिजात प्रपन्न पारिजाताय मुद्रा कृष्णा कृष्णाय दुहे नम जो शरण में आवे भगवान उसके लिए कल्पवृक्ष है उसको अपने पास पहुंचने में भी मदद करते हैं और पहुंचने पर उसके सारे काम बना देते हैं संसार में तीन तरह के भक्त होते हैं जो भक्ति करते हैं भगवान की और उनसे मांगते हैं कुछ और हमको बेटा दे दो हमको धन दे दो हमारा ब्याह करा दो हमारी जीत करा दो भक्ति करेंगे भगवान की और भगवान से मानेंगे संसार और एक होते हैं भक्ति करते हैं भगवान की और उनसे मानते हैं भगवान को उनका ख्याल होता है इतनी भक्ति करते हैं साढ़े तीन करोड़ नाम जप करते हैं इतनी पूजा करते हैं इतना ध्यान करते हैं अब इसके बदले में भगवान हमको मिल जाए अब महाराज त्रिलोकी की त्रैकालिक संपत्ति भी यदि एक तराजू के परड़े पर रख दी जाए और उसके बदले में कोई भगवान को चाहे तो क्या भगवान की वो कीमत हो सकती है तो तीसरी तरह के जो भक्त हैं वो भजन करते हैं भगवान से संसार नहीं मांगते हैं वो भक्ति करते हैं और भक्ति के बदले में भगवान को भी नहीं मांगते हैं पर एक कैसे हैं बाबा हमारी भक्ति के बदले नहीं भगवान तो अपनी करुणा से अपनी कृपा से मिलते हैं हमारे भजन के बदले में भगवान नहीं मिलते हैं बल्कि भगवान के हृदय में इतनी करुणा है इतनी करुणा है कि जब देखते हैं कि हम उनके लिए व्याकुल हैं उत्सुक हैं उनसे प्रेम करते हैं वो स्वयं आकर के हमसे मिलते हैं तो भगवान भगवान ही साधन है और भगवान ही साध्य है एक जगह साधन है भगवान और साध्य है संसार दूसरी जगह साधन है अपनी भक्ति और साध्य है भगवान और तीसरी जगह भगवान ही साधन और भगवान ही साध्य बुद्धिर्विकुंठिता समाप्ता मम युक्त नान्यत् किञ्चित् विजानामि शरण मम त्वमेव शरण मम मेरी बुद्धि कुंठित हो गई सारी युक्ति उक्ति समाप्त हो गई अब मुझे अपने किसी साधन का भरोसा नहीं है हे प्रभु अब बस आपका ही आश्रय है आपकी ही शरण है उत्पत्पाद मूलम शरणम प्रभति बस अब आपके चरणों में मैं शरणागत हूं तो एक होती है प्रपत्ति गीता के प्रारंभ में अर्जुन की प्रपत्ति है वो श्री कृष्ण के प्रपन्न हुआ पांव पकड़ लिया और गीता के अंत में शरणागति मां एकम शरणम ब्रज एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ तो भक्ति ज्ञान आय कल्पना जब तक ईश्वर की भक्ति चित्त में नहीं आवेगी तब तक संसार की भक्ति बन गई आप ये मत समझना कि आपका अंतकरण संसार की भक्ति से मुक्त है जन्म जन्म से काल से संसार में रहते आए हैं और संसार में प्रीति करते रहे हैं धन से प्रीति है कुर्सी से प्रीति है और सगे संबंधियों से प्रीति है आसक्ति तो हृदय में आसक्ति तो संसार के प्रति हृदय में है ही है ज्ञान की बड़ी बड़ी बात करते हैं लेकिन महाराज गीत चाहे जितना ऊंचा बढ़े चीज चाहे जितना ऊंचा बढ़े उसकी नजर मांस के टुकड़े पर ही रहती है पर जब भगवान से प्रीति हो जाती है भगवान से प्रीति हो जाती है तो वो संसार के प्रति जो आसक्ति है जो आकर्षण है वो नहीं होता है तो गीता में ये बात स्पष्ट है कि ज्ञान किसको होता है भगवान के भक्त को होता है एक बात और सुना ये जो लोग भक्ति से परहेज करते हैं ये परहेज शब्द भी संस्कृत का ही है परिजिहासा परिजिहीर्षा त्याग करने की इच्छा परहेज छोड़ने की परिजिहासा हाथों में इच्छा जिहासा तो परिजिहासा शब्द का परहेज है जो लोग भक्ति से परहेज करते हैं और ज्ञान चाहते हैं तो ज्ञान को बैठने के लिए जगह बनानी पड़ती है जब अपने घर में किसी बड़े को बुलाते हैं तो उसके लिए कमरे को साफ करना पड़ता है उसके लिए बैठने के लिए कुर्सी देनी पड़ती है उसके लिए रोशनी करनी पड़ती है उसके लिए पंखा झटके की व्यवस्था करनी पड़ती है उसके उसको भोजन देना पड़ता है तो जब हम ज्ञान देवता को ज्ञान परमेश्वर को अपने हृदय में बुलाना चाहते हैं तो कूड़े करकट में बुलावेंगे जहां किंचित रोशनी नहीं है वहां बुलावेंगे जहां सांस लेने की जगह नहीं है वहां बुलावेंगे मुसाफिर खाने में भगवान से मिलेंगे हमारा दिल तो मुसाफिर खाना होगा दस आते हैं दस जाते हैं दस बातें आती हैं दस चीजें जाती हैं और उसी में चाहते हो कि ये भगवान भी आ जाए तो भगवान को बैठने के लिए जगह तो बनानी पड़ेगी ना तो ये भक्ति देवी जब आती है तब भगवान की सब सुविधा देख लेते हैं यहाँ ज्ञान देवता किस रास्ते से आएंगे इस स्वच्छ कमरे में कैसे रहेंगे कहाँ बैठेंगे कैसे सोएंगे कैसे खाएंगे कैसे पिएंगे हमको एक ने बुलाया था वो हमको बहुत आश्चर्य हुआ तो उसने बताया कि पहले रात भर मैं इस कमरे में सोया हूं कहा पानी रखने में सुविधा रहेगी कहा से बाथरूम ठीक पड़ेगा कहां से भोजन के लिए जाने में ठीक पड़ेगा ये हमने पहले देख लिया है रात भर रह के यही सोया यही भोजन किया आपकी सुविधा असुविधा के लिए हमने ये सब सोच के ऐसे ऐसे किया तो ये भक्ति देवी जो हृदय में आती है ना तो भक्ति जो होती है वो निर्विषयक नहीं होती है एक उसकी भक्ति के पेट में कुछ न कुछ रहेगा तो जब अब उसमें देखो जाति भक्ति है समाज भक्ति है देश भक्ति है, हैं? और ये सब भी भक्ति है पर भगवत भक्ति जो है वो भगवत विषयक होते हैं थोड़ी सी विचार की बात आपको सुना भगवान आपको परोक्ष है कि अपरोक्ष है माने भगवान का दर्शन आपको होता है कि नहीं होता है तो भगवान क्या है आत्मा अपरोक्ष है इसलिए उसका विवेक होता है ये आत्मा नहीं है ये आत्मा नहीं है ये नहीं है ये नहीं है, है? मैं इससे न्यारा हूं मैं इससे न्यारा हूं ऐसे जिसका नाम होता है विवेक विचर पृथक भाव जिससे तुम मिल गए हो उससे अपने को अलग करो लेकिन जो परमात्मा है परमेश्वर है है ना उसके बारे में ऐसा ख्याल नहीं है कि वो अपरोक्ष है ये है कि वो परोक्ष है आंखों से हो जाए उस विवेक में सूखा विवेक नहीं चलेगा यदि परमात्मा को संसार से अलग करना है तो सूखे विवेक से काम नहीं चलेगा उसमें तो श्रद्धा सहित विवेक चाहिए तो परोक्ष जो तत्पदार्थ है तत्पद वाच्यार्थ उसका संसार से विवेक करना कहां संसार है और कहां परमात्मा है क्या संसार है और क्या परमात्मा है तो ये तो बिना प्रीति के ये विवेक हो गई नहीं तो प्रीति विशिष्ट जो विवेक है उसको तो भक्ति कहते हैं और प्रमाण विशिष्ट जो विवेक है प्रमाण मूलक जो विवेक है उसको विवेक कहेंगे तो अपने को ढूंढा जाता है विवेक करते और परमात्मा को ढूंढा जाता है भक्ति युक्त विवेक करते परोक्ष वस्तु का अनुसंधान यदि भक्ति नहीं होगी तो होगा ही नहीं क्यों परोक्ष वस्तु की खोज में कोई लगे यदि उसके मिलने पर श्रद्धा न हो है? और उसके मिलने से कोई लाभ न हो कोई मिलने का प्रयोजन न हो तो उसकी खोज में कोई लगेगा क्यों इसलिए भक्ति माने विभाग भागो भक्ति भजनम भाग भागो भक्ति विभाग करो संसार क्या है भगवान क्या है संसार और भगवान के विश्लेषण का नाम विश्लेषण का नाम भक्ति है परंतु ये विश्लेषण ये विभाग ये विवेक जब तक प्रेम नहीं होगा श्रद्धा नहीं होगी तब तक नहीं होगा और जब भगवान मिल गया हमारा तो हमारे अंतकरण में प्रीति विशिष्ट ज्ञान है माने प्रीति से ईश्वर का जो ज्ञान है वो प्रीति से भरा हुआ है और साक्षी का जो ज्ञान है वो प्रीति की अपेक्षा नहीं रखता हो साक्षी का जो ज्ञान है वो प्रीति की अपेक्षा नहीं रखता लेकिन जो परमात्मा का तत्पद वाच्यार्थ का ज्ञान है उसको प्रीति चाहिए है प्रीति अच्छा। जब प्रीति विशिष्ट ज्ञान होगा तो सविषयक हो जाएगा विशिष्ट ज्ञान का विषय भी विशिष्ट होगा इसलिए हमारे हृदय में जो भक्ति होगी उसमें जो सगुण सविशेष जो परमेश्वर है वो हमारे भक्ति के हृदय में आ जाएगा अब देखो एक अंतकरण है उसका प्रकाशक साक्षी चेतन है साक्षी चेतन है ये जरा वेदांतियों को समझाने के लिए ये बात है है ना जो अंतकरण का साक्षी चेतन है अब वो अंतकरण में जो भक्ति है, हैं? उस भक्ति में जो भगवान है उसका साक्षी कौन है और तुम्हारे अंतकरण का जो चेतन है भक्त्याकार परिणत अंतकरण में जो भगवद आकार है उस आकार का चेतन कौन है एक ही है वो बिल्कुल इसलिए तत्पदार्थ और कौम पदार्थ की एकता में लक्ष्यार्थ की एकता के ज्ञान में ये तत्पदवाच्यार्थ और त्वम पदवाच्यार्थ का अंत करणावच्छिन्न चैतन्य ये त्वम पद त्वम पद वाच्यार्थ है शुद्ध है तो लक्ष्यार्थ और नारायण वो भक्ति में जो भगवद आकार है ना उस आकार से अवच्छिन्न जो चैतन्य है वो तत्पद तत्पद वाच्यार्थ है और दोनों में चेतन की एकता है वो लक्ष्यार्थ है तो जो जो आत्मा के रूप में चेतन है वही परमात्मा के रूप में चेतन है ये अनुभव ये ज्ञान भक्ति से ये ज्ञान हो जाएगा भक्ति ज्ञान आय कल्पते भक्ति से ज्ञान हो जाएगा दोनों की एकता का ज्ञान हो जाएगा और <clears throat> भक्ति कब होगी भगवान की भक्ति माने और श्रद्धा पूर्वक भगवान का अनुसंधान परोक्ष पदार्थ का अनुसंधान तब होगा जब उसमें थोड़ा मजा आने लगे सुखमेव लब्ध्वा करोती ना सुखम लब्ध्वा करोती तो भगवत विषय जो ज्ञान होता है वो जरा थिरकता हुआ ज्ञान होता है नाचता हुआ हो ये पांव का नुपुर बज गया ये नृत्य का एक ताल है वो और तो ये टुड्डी हिल गई और तो ये होठों पर मुस्कान आ गई ये आंखों में प्यार आ गया ये पीताम्बर फहरा गया क्या है ये ज्ञान नाच रहा है हाँ, यहां से वहां इस ताल पर इस ताल पर इस ताल पर इस ताल पर है तो नाचते हुए ज्ञान का फिरकते हुए ज्ञान का संस्कृत भाषा में उल्लसित ज्ञान बोलते हैं जिस ज्ञान में उल्लास है लहरा रहा है गंगा जी में शीतल मंद सुगंध वायु के स्पर्श से मंद मंद थिरकन तरंग आ रही है तो जब भक्ति से अपना हृदय जब भगवान के लिए तरंगायमान होता है तो उस तरंगायमान चित्तवृत्ति को भक्ति कहते हैं और चेतन दो नहीं होता है चेतन दो नहीं होता है तो भगवान के महात्म्य ज्ञान से तो आती है भक्ति और यथा यथात्मा परिवृजते सौ मतपुण्य गाथा श्रवणाभिधान तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्म चक्षुर्यथवांजन संप्रयुक्त ये आत्मा अंतकरण शुद्ध होता है जैसे जैसे शुद्ध होता है कैसे कैसे शुद्ध होता है मत पूर्ण गाथा श्रवणा नहीं भगवान का जो पूर्ण चरित्र है उसका श्रवण करो और वर्णन करो भगवान के दर्शन का यही उपाय है श्रृण्वंत गायंत गृणंत अभीक्ष स्मरंती नंदंती तवे हितम जना पश्यतिरव पश्यन्त्यतिरेव भव भवप्रवाहो परमम् सती वक्तरी श्रमंती एवं यदि वक्ता मिल जाए तो सुनते और सतीश हाँ, सती श्रोतरी गायन यदि कोई श्रोता मिल जाए तो गाते हैं गाने की अपेक्षा सोना सुनना अच्छा है क्योंकि गाने में कर्म होता है और कर्म से लय होता है और श्रवण से ज्ञान होता है और ज्ञान से जागरण होता है तो बोलना तो कर्म की कोटि में है और सुनना ज्ञान की कोटि में है तो श्रृणवंती गायंती गावे भी तो स्वाद ले लेके गावे बेमंत ने गावे स्वाद ले तो जब भगवत का आस्वादन करने लगते हैं भगवान का स्वाद लेने लगते हैं तब उसमें प्रवृत्ति दृढ़ हो जाती है और इस तरह से भगवान का स्मरण करते हैं सुनते हैं गाते हैं और यदि कोई सुनाने वाला न हो और सुनने वाला न हो तो ग्रहण गुनगुनाते हैं अपने मन से गुनगुनाते रहते हैं और इन तीन साधनों से भगवान का स्मरण करते हैं और स्मरण करते हुए आनंद लेते हैं तो ये व पश्यंत तिरेणतावकम संसार की बहिर्मुखता को मिटाने वाली एक बात आप ध्यान में रख लो प्रीति और दुख ये दोनों तो एक साथ रह सकते हैं प्रीति अपने प्रियतम के लिए प्रीति कभी दुखी भी हो सकती है लेकिन प्रीति और द्वेष ये दोनों एक अंतकरण में नहीं रह सकते एक अंतकरण में एक साथ प्रीति भी रहे और द्वेष भी रहे द्वेष आग है और प्रीति तो रस है प्रीति तो स्वाद है एक ही अंतकरण में एक साथ प्रीति का रस भी होवे और द्वेष की आग भी जले ऐसा नहीं हो सकता द्वेष प्रीति का विरोधी है परंतु दुख प्रीति का विरोधी नहीं है इसलिए भगवान के लिए दुखी होना भी प्रेम है दूसरे के लिए दुखी होना प्रेम नहीं है भगवान के लिए दुखी होना प्रेम है तो ये प्रीति जितनी जितनी तत्पद वाच्यार्थ में प्रीति बढ़ेगी तो संसार की प्रीति घटेगी और त्वम पदार्थ का जब विवेक होगा तो देहादि के साथ जो तादाद में है सो छूटेगा वहां से संसार हटेगा और यहां से देहादि का अभिमान हटेगा जैसे जैसे ये दोनों पदार्थ शुद्ध होंगे भक्ति तत्पदार्थ को शुद्ध करती है और और और योग योग और विवेक ये तोम पदार्थ को शुद्ध करते हैं और धर्म उपाधि को अंतकरण की उपाधि को शुद्ध करता है परमात्मा के तत्पद वाच्यार्थ के शोधन के लिए भक्ति है तोम पद वाच्यार्थ के शोधन के लिए विवेक है, है? और उपाधि के शोधन के लिए धर्म है तथा तथा पश्य धर्म ये समन्वय तो सभी का होता है ना समन्वय माने धर्मानुष्ठान होने पर भक्ति आवेगी भक्ति भक्ति आने पर भजनीय का साक्षात्कार होगा साक्षा भजनीय का साक्षात्कार होने पर आत्मा और परमात्मा दोनों की एकता का बोध होगा जो कि स्वतः सिद्ध है इसलिए भक्ति ज्ञान के पास पहुंचा देते हैं मदभक्त तद विज्ञाय मद्भावायोपद्यते अब एक भजनीय तत्व का ज्ञान महात्म का ज्ञान कितना महान है वो प्रभु इसके ज्ञान से आती है भक्ति फिर संबंध बनता है संबंध से चिंतन होने लगता है और चिंतन स्मरण होने से अंतकरण शुद्ध हो जाता है और भगवान में स्पष्टता आ जाती है कि भगवान क्या है इसी से भक्ति शब्द का एक अर्थ तो है भाग विभाग संसार और परमात्मा का विभाग भागो भक्ति और एक है भंजनम भक्ति संसार के जो दुख हैं द्वेष हैं भंजो आमर्दन धातु से जैसे रंजनम रक्ति अनुरंजनम अनुरक्ति व्यंजनम व्यक्ति ऐसे भंजनम भक्ति बनता है और तीसरे भजनम सेवनम आस्वादनम जैसे बैल पहले कोई चीज खा लेता है और भूसा खा लिया खली खा लिया घास कर ली और उसके बाद बैठ गया आराम से और खाए हुए को मुंह में ला ला करके पागल करता है चुभ लाता है उसको उसमें गाढ़ उसमें फैन पैदा होता है और दूध बना देता है वो खाए हुए घास को भूस को खली को दूध बना करके मक्खन बना करके और फिर उसका स्वाद लेता है ऐसे हम सुन लें सुन लें पढ़ लें बोल लें और फिर वो सुने हुए को पढ़े हुए को बोले हुए को है अपने हृदय में से निकाल निकाल कर स्मृति पथ पर ले आवें स्मृति के चबूतरे पर ले आ और उसका स्वाद लें भजनम नाम रसनम इसका नाम होता है भक्ति तो इससे संसार की आसक्ति टूटती है तो जो हमारे फसाव हैं बंधन हैं वो टूटते हैं और भगवान की ओर भगवान की ओर रति बढ़ती है श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति पहले श्रद्धा होती है फिर रुचि आती है और फिर भक्ति आ जाती है और मद भक्त तब देखी आ देखो मई चारण्य जोगे न भक्ति विचारिणी ज्ञान का साधन क्या है कि तो भगवान में विचारिणी भक्ति तेरहवें अध्याय में मई चानन्य जोगे न रव्य विचारिणी अनन्य योग के द्वारा भगवान की अव्यभिचारिणी भक्ति चौदहवें अध्याय में देखो मांस जो न भक्ति योगे न सेवते सगुणान समति त्यता भक्ति से ब्रह्म भाव की प्राप्ति होती है मदभक्त ये तद विज्ञाया मद आयोग बद्यते अच्छा और ज्ञान में होता क्या है कि ये देखो तत्पदार्थ जो माम पश्यति सर्वत्र ईश्वर है जो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मई पश्यति हम न प्रणश्यामी जब सर्व परमेश्वर है तो जो देखेंगे वही परमेश्वर है हम हाँ, न प्रणश्यामी सच में न प्रणश्यती